चौथे स्नान से सांसारिक पांचवे स्नान से गुप्त पाप और छठे स्नान से उप को नाश करता है इन कुंडों में सात बारे के स्नान से मनुष्य अपने महापात का भी नाश करता है जो पूरे एक मास तक गुप्त प्रयाग में स्नान करता उसके फल को ब्रह्मा आदि देवता कोटि कल्पों में भी नहीं बता सकते प्रभास में जो कोई भी तीर्थ है उन सब की अपेक्षा अत्यंत प्रिय तथा सब पातकों का नाश करने वाला यही तीर्थ है मैंने इस तीर्थ की रक्षा के लिए मातृकाओं की नियुक्ति की है भांति-भांति के निवेदों से यत्न पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की श्राद्ध भक्ति के साथ वह पितरों का श्राद्ध करता वह पितृवर्ग और मातृवर्ग दोनों का उद्धार कर देता है माधव श्रृंगालेश्वर त्रिपथगा गोपाल स्वामी उत्तरार्क मनु देवी आदि विविध तीर्थ और देवी विग्रहों के सेना की महिमा महादेव जी कहते हैं पार्वती उसके दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर शंख चक्र और गदा धारण करने वाली भगवान माधव विराजमान हैं जो शुक्ल पक्ष की एकादशी को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर गंध पुष्प और अनुलेपन के द्वारा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त होता है जो विष्णु कुंड में स्नान करके माधव की पूजा करता है वह श्री श्री हरि के परम धाम में जाता है वहां से उत्तर दिशा में कुछ वागकोण की और श्रृंगालेश्वर लिंग है महा तेजस्वी इंद्र वरुण कुबेर यमराज अग्नि आदित्य वसु तथा समस्त लोकपालों ने उस महालिंग की आराधना की है जो श्रृंगालेश्वर का पूजन करके उनके कुल में कोई निर्धन नहीं होगा जो मनुष्य अमावस्य तिथि को यहाँ आकर स्नान करके क्रोध रहित हो विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर प्रलय काल तक तृप्त रहते हैं इस क्षेत्र का विस्तार एवं एक मील तक है उसमें जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है जो अनशन व्रत धारण ग्रहण करता उस पीठ में प्राणों का त्याग करते हैं वह परमेश्वर ईश्वर में लीन हो जाते हैं श्रृंगालेश्वर से ईशान कोण में सात धनुष की दूरी पर तिरपथंगा गंगा है उसके जल में उत्पन्न होने वाली मछलियां इस कलयुग में भी तीन नेत्र वाली देखी जाती हैं वह स्नान करके मनुष्य पांच महापातकों से मुक्त हो जाता है चंडीश्वर से पूर्व भाग में बीज धनुष पर गोपाल स्वामी का स्थान है जो माघ मास में माघवास में स्वामी गोपाल स्वामी श्रेणी का दर्शन पूजन तथा वहां रात्रि में जागरण करता है वह परम पद को प्राप्त होता है वहां से उत्तर दिशा में आठ धनुष पर वकुल स्वामी सूर्य देव का स्थान है जो मनुष्य रविवार युक्त सप्तमी में वहां जागरण करता वह सभी अभिष्ट वस्तुओं को पाता और स्वर्ग लोक में पूजित होता है वहां से वाव्य कोण में 16 धनुष पर उत्तार्क नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य विराज विराजमान है वहां रथ सप्तमी को उपवास करके मनुष्य सब रोगों से मुक्त हो जाता है वहीं देवकुल से अग्नि कोण में दो कोस दूर समुद्र के सुरमय तट पर परम उत्तम ऋषि तीर्थ है वहां पत्थर की आकृति वाले ऋषि लोग आज भी देखे जाते हैं जो सब पातकों का नाश करने वाले हैं वहां से पश्चिम दिशा में आधे कोस पर मरु देवी है जो मरुद्गणों के द्वारा पूजित तथा समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है मनुष्य को चाहिए कि समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए माँ नवमी और सप्तमी तिथि को गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा यत्न पूर्वक उनकी पूजा करे देवकुल से पूर्व में दस कोष पर सबल स्थान में शेमादित्य नाम से प्रसिद्ध सूर्य देव का स्थान है उनका दर्शन करके मनुष्य शेम तथा अर्थ सिद्धि का भागी होता है रविवार युक्त सप्तमी को पूजित होने पर वे समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देते हैं देवकुंड से उत्तर और भास्कर से दक्षिण कंट शोधनी देव का स्थान है जो मनुष्य अष्टमी तथा नवमी के दिन उनकी पूजा करता है उसको राक्षसों पिशाचों से भय नहीं होता और उत्तर सिद्धि को उत्तम सिद्धि को पाता है उस उससे पूर्व दिशा में थोड़ी ही दूर पर ब्राह्मणों द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर लिंग है जो इन शित्यों के जल में स्नान करके उसका पूजन करता है वह ब्राह्मण जड़ता से रहित एवं वेदज्ञ होता है भगवती चंडी के गणों का द्वारा यह स्थान सुरक्षित है मैंने सीमा सहित वह स्थान ब्राह्मणों को दे दिया है स्थल केश्वर से पूर्व दिशा में कुछ अग्नि कोण की ओर विश्वकर्मा द्वारा स्थापित दो महापुण्य में लीन है विश्वकर्मा जब नगर का निर्माण करने के लिए वहां आए उस समय उन्होंने पहले शिवलिंग की स्थापना की तत्पश्चात पुनः नगर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया विवाह और गृह प्रतिष्ठा आदि प्रत्येक कार्य के आदि और अंत में उन दोनों लिंगों की पूजा करके मनुष्य तत्काल सिद्धि को पाता है वहां से दक्षिण भाग में समस्त पातकों का नाश करने वाले वाली दुर्गादित्य नामक सूर्य देव के समीप जाए जो रविवार युक्त सप्तमी में उनका पूजन करता है उसके सब दुख और अनेक प्रकार के कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं वहां से दक्षिण भाग में ऋषि गया के तट पर सोमेश्वर लिंग है जिनका नाम पहले भूतेश्वर था सोमेश्वर का दर्शन पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है वहां से उत्तर भाग में कुछ वाद्यपूर्ण की ओर सिद्धिदायक विनायक विराजमान है जिन कुबेर को मैंने अपना सखा बताया है वे ही गणनाथ रूप से इस स्थान में लोगों को सिद्धि प्रदान करने के लिए स्थित है जो मंगलवार युक्त चतुर्दशी को लड्डू सहित नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उनकी विधि पूर्वक पूजन करता है उसे निश्चय सिद्धि प्राप्त होती है तदंतर विश्व के तट पर स्थित सर्व विघ्न नाशक विनायक दर्शन करने के लिए जाए वे साक्षात त्रिपुराण तक शिव है और गज रूप धारण करके मां क्षेत्र प्रभास में ऊंचे स्थान पर अपने कोटि गुणा के साथ स्थित है अतः निर्भरता पूर्वक यात्री की सिद्धि के लिए गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा उनका पूजन करना चाहिए योग शेर की सिद्धि के लिए उनकी यात्रा का महोदय से भी महोत्सव करना चाहिए वहाँ से उत्तर महाकालेश्वर लिंग है जो महादेव है जो उस पुर के अधिष्ठाता रुद्र रूपधारी भैरव है पूर्णमासी है और अवश्य को उनकी महापूजा करनी चाहिए जो महोदय तीर्थ में स्नान करके महाकाल का दर्शन करता वह सात हजार जन्मों तक संसार में धरणाय होता है वहां से ईशान कोण में महोदय तीर्थ है उसमें विधि पूर्वक स्नान करके जो देवता और पितरों का तर्पण करता उसे पति ग्रह जनित तो दोष से मुक्त वह नहीं होता उस तीर्थ की रक्षा के लिए महाकाल के उत्तर दास में भाग में मेरी प्रेरणा से मातृकाएं रहती हैं वहाँ स्नान करके मनुष्य पहले उन मातृकाओं की पूजा करे वहाँ से वाग्य कोण में सामे संग और संगमेश्वर लिंग है और उससे भी पूर्व दिशा में पापनाशिनी कुंडिका है जहाँ वर्णवानन सहित सरस्वती जी आई हैं जो कुंडिका में स्नान करके संगेश्वर पूजन करता उसका सहस्त्र जन्म तक लक्ष्मी पुत्र तथा प्रियजनों से कभी योग नहीं होता वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है उस स्थान से तीन योजन दूर उत्तर तपोदत्त स्वामी जहाँ भगवान विष्णु ने युद्ध करके दैत्यराज तल का तल का वध किया था जो मानव तत्व कुंड में स्नान करके तल स्वामी की पूजा तथा स्नान करता है वह करोड़ों यथार्थों का फल पाता है उससे पूर्व दिशा में काल ही लिंग रूप है त्रेत क्षेत्रपाल है अष्टमी और चतुर्दशी को विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए वे कलयुग में कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाले हैं वहां से दक्षिण भाग में पश्चिम धनुष की अंतर पर उत्तर पर सब पापों का नाश करने वाली रुक्मणी देवी स्थित है तब तो तक कुंड में स्नान करके रुक्मणी जी की पूजा करें इससे सात जन्म तक स्त्री की गृहस्थी भंग नहीं होती वल बलभद्र से पूर्व दिशा में एक श्रेष्ठ नदी है यहाँ दुर्वासेश्वर लिंग प्रतिष्ठ है जो अमावस्या को उस नदी में स्नान करके पिंड देता है वहाँ सौ कोटि कल्पों से अधिक काल तक के लिए पितरों को तृप्त देता है वहाँ दुवासेश्वर शिव का विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य कोटि यज्ञों का फल पाता तथा समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त कर लेता है वहाँ ऋषियों द्वारा स्थापित किए हुए बहुत से शिवलिंग है उनका दर्शन स्पर्श और पूजन करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है जहाँ क्षेत्र की परिधीप मधुमती नामक स्थान है वहाँ समुद्र तट पर लिंगेश्वर देव है तथा सप्तकूप है वहाँ श्राद्ध करके मनुष्य गया से कोटि गुना फल पाता है तल स्वामी शंखावत तीर्थ और गोष्पद तीर्थ की महिमा वहाँ श्राद्ध की विधि तथा राजा पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी का दोहन महादेव जी कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि वह तल स्वामी विष्णु का स्मरण करे फिर सहस्त्र शीर्षा मंत्र से तर्पण आदि करे विधिवत स्नान करके श्री विष्णु को अर्घ दे